ए ईमान वालो जब तुम्हारा किसी लश्कर से मुकाबला हो जाए तो तुम साबित कदम रहो और अल्लाह का कसरत से जिक्र करो ताकि तुम फलाह पा सको